अमृत दृष्टि परम गुरु ओशो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर पंद्रह नहीं राम बिन ठाम संतों ने सदा कहा है नहीं राम बिन ठाव भगवान श्री कृपा पूर्वक इसका अभिप्राय बताएं सांसारिक आदमी का अर्थ है कि जिसका स्वयं पर भरोसा है ये बड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हम तो स्वयं पर भरोसे का बड़ा मूल्य मानते सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वयं पर भरोसे को हम सिखाते हैं हर बच्चे को कहते हैं खुद के पैर पर खड़े हो जाओ अपने पर भरोसा रखो लड़ो जूझो डरो मत तुम जरूर जीतोगे ऐसी धारणा रखो तो जीतोगे तो जीत जाओगे प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता संघर्ष का सूत्र यही कि अपने पर भरोसा रखो अपने पर भरोसा खोया तो पैर डगमगा जाएंगे और गिर पड़ोगे हम प्रत्येक व्यक्ति को यही सिखाते हैं कि तुम महाशक्तिशाली हो डरो मत लड़ो और आज नहीं कल सब तुम्हारी शरण आ जाएंगे जिस दिन ये भ्रमजाल टूटता है जिस दिन हमें लगता है कि मेरी कोई शक्ति हो कैसे सकती है क्योंकि मैं भी नहीं हूं मेरा होना सिर्फ एक धारणा है मैं तभी हो सकता हूं जब इस सारे अस्तित्व से अलग हो सकूं एक क्षण श्वास न आए तो मैं समाप्त हो जाता हूं एक क्षण सूरज न उगे मेरी मृत्यु हो जाती ये जो विराट का इतना बड़ा जाल है इस जाल में कहीं से भी कुछ सरक जाए तो मेरी ईंटें गिर जाती मेरा भवन भूमि साथ हो जाता इस पूरे कॉजमास में इस जागतिक व्यवस्था में मैं एक छोटा सा अंग हूं और अंग भी ऐसा नहीं कि अलग हो सकूं अलग होते ही मैं नहीं हूं थोड़ा सोचे अपने को अलग करके सोचे इस विराट से आप क्या हैं फिर शून्य हो जाएंगे तत्म आपके जीवन की धारा विराट से बहती है श्वास आती है विराट से वापस विराट में लौट जाती जन्म होता है विराट से वापस मृत्यु में लीन हो जाते हैं सब उसी से आता है उसी में वापस लौट जाता है एक विराट का वर्तुल है जिसमें आप घूमते हैं आपका होना पृथक नहीं है इसलिए संघर्ष किससे अगर आप पृथक हैं तो संघर्ष है अगर आप पृथक हैं तो दूसरे आपके प्रतियोगी हैं शत्रु हैं ध्यान रहे जब तक राम को कोई शरण की तरह अनुभव न कर ले तब तक इस जगत में सभी शत्रु मित्र कोई भी नहीं जिसको हम मित्र कहते हैं वो भी छिपा हुआ शत्रु है क्योंकि वो भी हमसे संघर्ष कर रहा है हम यहां बैठे कोई संघर्ष नहीं मालूम पड़ता है लेकिन अगर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम प्रतियोगी हो जाएंगे कौन श्वास ले वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि टेक्नोलॉजी के विस्तार से पूरी वायु दूषित होती जा रही इस सदी के पूरे होते होते वायु इतनी दूषित हो जाएगी कि केवल वही लोग ऑक्सीजन पा सकेंगे जिनके पास धन है ऑक्सीजन भी मुफ्त नहीं रह जाने वाली ज्यादा दिन क्योंकि उसकी एक मात्रा है तो बड़े नगरों में न्यूयॉर्क और बंबई जैसे नगरों में केवल धनी ऑक्सीजन पा सकेगा गरीब को दूषित हवा पर ही रहना पड़ेगा जैसा गरीब दूषित पानी पर रहता है गंदे मकान में रहता है गंदे कपड़ों में रहता है ऐसी गंदी हवा में रहेगा क्योंकि शुद्ध हवा वही खरीद सकेगा ये संघर्ष बढ़ता जाए तो थोड़े से लोग ही जी सकेंगे जो शुद्ध हवा पा सकते हैं बाकी लोग मिट जाएंगे हम यहां बैठे हैं लेकिन हम श्वास में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं हम बैठे हैं लगते हैं शांत हैं कोई झगड़ा नहीं है कोई प्रतियोगिता नहीं लेकिन भीतर प्रतियोगी बैठा है मित्र भी छिपे हुए शत्रु हैं अगर आप पृथक हैं तो यह पूरा जगत शत्रु है और इससे लड़के आपको अपने जीवन की सुरक्षा करनी डार्विन जैसे विचारक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो योग्यतम है वही बचेगा या जो शक्तिशाली है वही बचेगा ऐसे सिद्धांतों को जन्म दे सके क्योंकि उनकी मौलिक धारणा प्रत्येक को पृथक मानने की है तब जीवन एक उपद्रव है और एक अराजकता है और हिंसा उसका सूत्र है दूसरे को मिटा के ही खुद के जीने का उपाय है आपकी मृत्यु मेरा जीवन है मेरा जीवन आपकी मृत्यु है ऐसे जीवन की धारा में आनंद तो असंभव है जहां हिंसा सूत्र हो वहां आनंद असंभव है जहां हिंसा सूत्र हो वहां उत्सव असंभव है जहां हिंसा सूत्र हो वहां शांति असंभव है और जहां प्रतिपल लड़ना हो जीवन के लिए वहां जीवन की समाधिस्थ दशा को पाने का कोई उपाय नहीं जहां एक एक श्वास के लिए संघर्ष करना हो दूसरे की मृत्यु बनना हो वहां उल्लास और अहोभाव के लिए कहां मौका है कहां संधि अगर मैं पृथक हूं जैसा कि हम सब मानते हैं तो शत्रुता चारों तरफ है और इस शत्रुता के बीच कैसे अभय को आप पहुंच सकेंगे जिस दिन ये भ्रांति गिरती है कि मैं पृथक हूं ये भाव गिरता है अस्मिता विलीन होती अहंकार विसर्जित होता है उस दिन तत्म मुझे लगता है कि मैं एक अंग हूं और अंग भी एक जीवंत जगत का है वो वृक्ष भी आकाश में भटकता हुआ बादल भी और मैं एक ही मूल स्रोत की अभिव्यक्तियां हैं एक ही जीवन धारा से उठते हैं ये रूपों का भेद है मूल स्रोत एक है ये आकृतियों की भिन्नता है लेकिन आत्मा की भिन्नता नहीं आकृतियां भिन्न है आत्मा एक है रूप भिन्न है वो जो अरूप सागर सबके भीतर दौड़ रहा है चेतना का वो एक है राम की शरण का अर्थ है कि मैं पृथक नहीं राम ही एकमात्र ठाव है इसका अर्थ है कि मैं अपनी पृथकता को विसर्जित करता हूं मेरा संकल्प अब मेरा सूत्र ना होगा समर्पण अब मेरे जीवन की व्यवस्था होगी अब मैं छोड़ता हूं संघर्ष और बहना शुरू करता हूं तत्क्षण सारा जगत मित्र हो जाता है मित्र कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जहां शत्रु न बचे हो वहां कैसी मित्रता तत्क्षण सारा जगत एक परिवार हो जाता तब जगत के सारे रूपों के बीच एक आंतरिक पारिवारिक पारिवारिकता का जन्म होता है तब सबके भीतर मैं हूं और मेरे भीतर सब है इसे ही हिंदू अद्वैत भाव कहते रहे नहीं राम बिन ठाव का अर्थ राम शब्द से मत पकड़ना इससे कोई हिंदुओं के भगवान का लेना देना नहीं है राम से दशरथ के बेटे राम का कोई भी संबंध नहीं है इस सूत्र में यहां राम का अर्थ अल्लाह है यहां राम का अर्थ परमात्मा गॉड यहां राम का अर्थ उस तत्व से है जिसमें हम सब जी रहे हैं जिसमें हम सब श्वास ले रहे हैं जिसके होने में हमारा होना समन्वित है इसे थोड़ा समझें यदि ये सत्य है संतों की ये प्रतीति सत्य है कि हम अंग हैं तो फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति मिटते हैं लेकिन ये विराट तो सदा बना रहता है मैं नहीं था तब भी था मैं नहीं रहूंगा तब भी होगा अगर मैं पृथक हूं तो मेरा जन्म होता है और मेरी मृत्यु होती पृथकता का जन्म भी होगा मृत्यु भी होगी और अगर मैं पृथक नहीं हूं तो मैं जन्म के पहले भी था मेरे रूप भिन्न रहे होंगे मैं मृत्यु के बाद भी रहूंगा मेरे रूप कोई भी हो मिटने का कोई उपाय नहीं अगर मैं सर्व के साथ एक हूं तो जीवन शाश्वत है तो अनादि है अनंत है सदा से है सदा होगा भय विसर्जित हो जाता है और तब जीवन में उत्सव का उदय होता है भयभीत हृदय कैसे नाच सकते हैं मौत प्रतिपद खड़ी है सब तरफ से मौत झांकती है जहां देखो वहां मौत की छाया दिखाई पड़ रही कहीं भी जाओ मौत पीछा करती पृथकता का बोध मृत्यु को जन्म देता है मैं पृथक हूं तो मौत अनिवार्य है अगर मैं एक हूं इस विराट एकता से मौत समाप्त हो गई इसका अर्थ हुआ अहंकार के मिटते ही मृत्यु मिट जाती संकल्प के मिटते ही फिर कोई मृत्यु नहीं है अमृत का जन्म होता है इसलिए संत कहते हैं समर्पण अमृत है लोग अमृत को खोजते पश्चिम में अल्केमिस्टों की पुरानी परंपरा है पूरब में चीन में भारत में सब मुल्कों में लोग खोजते रहे हैं कि शायद पारद के माध्यम से अमृत मिल जाए शायद धातुओं में रासायनिक सूत्रों में कहीं अमृत मिल जाए कोई एक ऐसी चीज जिसको पी के आदमी फिर मरता नहीं रासायनिक खोजों से अमृत कभी भी ना मिलेगा क्योंकि अमृत कोई रसायन नहीं है वो कोई केमिकल नहीं है न पारस से मिलेगा न स्वर्ण भस्मियों से मिलेगा न मोती नहीं उन सब से नहीं मिलेगा क्योंकि अमृत का अर्थ ही कुछ और है वो रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया का फल नहीं है अमृत का अर्थ है समर्पण अमृत का अर्थ है जब मृत्यु मर जाए मृत्यु ना बचे अमृत एक भीतरी भाव है अभी आपका भीतरी भाव मृत्यु है चाहे आप बुलाते हो छिपाते हो लेकिन भीतरी भाव मृत्यु प्रतिपल आप मृत्यु से दवाडोल है वो आपके भीतर कंपित हो रही है प्रति क्षण शरीर जा रहा है मौत करीब आ रही सब तरफ से झांकती है बूढ़े आदमी को देखते हैं मौत झांकती है एक खंडर हुए मकान को देखते मौत छांकती एक कुमलाया फूल मौत छांकती एक सूख गया झरना मौत झांकती जहां देखें वहां मौत है और आप कप रहे हैं इस कंपित दशा में पश्चिम में बहुत बड़ा विचारक हुआ डेनिस विचारक कीर गार्ड वो कहता है आदमी की जो वास्तविक दशा है वो ट्रेम्बलिंग कंपन उसकी वास्तविक दशा है वो प्रतिपल कपा हुआ है आंख बंद करके कभी देखें तो आप पाएंगे सिवाय भय के और भीतर कुछ भी नहीं इस भय के कारण आप भगवान की प्रार्थना भी कर सकते हैं मगर वो भी भय का ही विस्तार होगा इस भय के कारण हाथ जोड़ सकते हैं घुटने टेक सकते हैं लेकिन वो भी भय का ही विस्तार होगा मस्जिदों में मंदिरों में घुटने टेके हुए लोग किसी परमात्मा के सामने नहीं झुके हैं भीतरी भय के कारण झुके परमात्मा तो बहाना है डर है भीतर कप रहे हैं घुटना टेकना युद्ध स्थल पर हारे हुए सैनिक का लक्षण है भयभीत मौत सामने खड़ी मौत से बचने को वो घुटने टेकता है कि तो मुझे बचाओ हाथ जोड़ता है उसी को हमने प्रार्थना का ढंग बना लिया भगवान के सामने डरे हुए खड़े हैं बचाओ तुम्हारी शरण आए हैं मौत पीछा कर रही है सुना है मैंने एक सूफी फकीर हुआ उसके नौकर ने एक दिन सुबह सुबह आके कहा कि आपका घोड़ा मुझे दे दे समय मेरे पास ज्यादा नहीं गया था बाजार आपकी सब्जी खरीदने किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा देखा एक काली छाया मैंने पूछा तू कौन उसने कहा तेरी मौत और शाम तैयार रहना मैं आती हूं सूफी हंसने लगा उसने कहा घोड़ा तुम ले जा सकते हो नौकर घोड़ा लेके भागा ये घटना जहां घटी उस गांव का नाम दमिश्क नौकर भागा बुखारा की तरफ जैसे ही नौकर गया फकीर निकला गांव में बाजार में एक कोने में उसने मौत को खड़ा देखा और कहा कि ये क्या ढंग है मेरे नौकर को नाहक डराया और अगर कुछ कहना था तो मुझसे कहना था मौत ने कहा कि मैंने तुम्हारे नौकर को डराया नहीं मैं खुद चकित हो गई इसलिए अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया क्योंकि आज शाम हम दोनों का मिलना बुखारा में तय और वो यहां घूम रहा है सुबह फासला लंबा है मैं खुद चौंक गई इसलिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया फकीर फिर हंसा मौत ने पूछा लेकिन आप क्यों हंसते उनका सुबह भी मैं हंसा था जब उसने घोड़ा मांगा यही मेरा भी ख्याल था कि इसका बुखारा पहुंचना शाम तक जरूरी इसलिए घोड़ा भी दे दिया बेचारा पैदल बड़ा थक जाएगा और अगर ये बुखारा की तरफ जा रहा है तो सांझ मौत वही होनी निश्चित है भागो कहीं भी कितने ही तेज घोड़े तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं अल्केमिस्ट सभी मर गए बड़े दावेदार हुए जिन्होंने कहा कि हमने अमृत खोज लिया मगर उनमें से एक भी जिंदा नहीं सिर्फ कहानियां जिंदा हैं अब वैज्ञानिक फिर उसी मूढ़ता में पड़े जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं उसका जन्म भी अल्केमी से ही हुआ है वही अमृत को खोजते खोजते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और केमिस्ट्री की सारी चीजें खोज में आने लगी अब फिर विज्ञान कहता है कि कुछ करना है कि आदमी मौत से बचाया जा सके और वैज्ञानिक कहते हैं कुछ किया जा सकता है ये भरोसा सदा से रहा है कि कुछ किया जा सकता है और आदमी मौत से बचाया जा सकता निश्चित कुछ किया जा सकता है लेकिन उस करने का संबंध प्रयोगशाला से नहीं उस करने का संबंध अंतस्थल से है जब तक संकल्प विल और मैं हूं तब तक मौत सुनिश्चित है जिस दिन मैं नहीं हूं उस दिन मौत का कोई उपाय नहीं क्योंकि पूर्ण कभी भी नहीं मरता ये जो विराट है ये कभी भी नहीं मरता लहरें आती हैं जाती हैं सागर बना रहता जब तक मैं लहर हूं तब तक मरूंगा जब मैं सागर हूं तो मरने का कोई उपाय नहीं इस सूत्र में राम का संकेत इस विराट सागर के प्रति है हिंदू मुसलमान ईसाई से इसका कुछ लेना देना नहीं राम हिंदुओं के लिए परमात्मा का सूचक शब्द है और बड़ा प्यारा शब्द है इसका किसी व्यक्ति से ऐतिहासिक व्यक्ति से कोई प्रयोजन नहीं राम की शरण जाने का अर्थ है अपने को मिटा के सर्व की शरण जाना मैं नहीं हूं ये जो फैलाव ये जो विस्तार है ये जो ब्रह्म है यही है इसके अतिरिक्त कोई ठाव नहीं इसके अतिरिक्त जो ठाव खोज रहा है वो भटकेगा हम भटक रहे हैं जन्मों जन्मों से सिर्फ ठाव खोजने के लिए एक शरण स्थल चाहिए एक छाया की जगह चाहिए जहां हम विश्राम कर सकें लेकिन जन्मों जन्मों से खोज रहे हैं एक राह दूसरी राह में बदल जाती है लेकिन ठाव नहीं आती कई बार पड़ाव आते हैं लेकिन मंजिल नहीं आती पड़ाव का मतलब है घड़ी भर ठहर जाते हैं फिर पता चलता है कि ये कोई मंजिल नहीं है विश्राम थोड़ा हुआ आगे की यात्रा फिर खुल जाती है हर यात्रा नई यात्रा से जुड़ जाती है लेकिन यात्रा का अंत नहीं आता यात्रा का अंत तो राम पर ही होता है उसका यह अर्थ नहीं है कि फिर आप नहीं चलते फिर आप नहीं बहते फिर भी चलते हैं फिर भी बहते हैं क्योंकि जीवन की धारा तो चलती ही रहती लेकिन आप नहीं होते यात्री नहीं होता यात्रा जारी रहती और जिस दिन यात्री नहीं उस दिन चिंता कैसी जिस दिन यात्री नहीं उस दिन चिंता किसको तब जीवन एक उत्सव है एक सेलिब्रेशन तब जीवन एक समाधिस्थ नृत्य है तब जीवन एक संगीत है अभी जीवन एक चिंता है अभी जीवन एक बेचैनी है अभी जीवन एक अंतरकल है अभी जीवन दुख है नहीं राम बिन ठाव निश्चित ही राम के बिना कोई ठाव नहीं